अन्यास्त्यास्तराश्रवणत्ववादीम् प्राणमेवते विशारपूजनम् वंशीषुपतान्नदीवतात् पीताम्बरापरबिम्बफलापरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखापरबिन्दनेत्रात् कृष्णा शान्तिमसुतत्वमहं न जाने नमो नवघनश्यामकामकामचुरेले कमलाकामसौगामकामचुरेले श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कमल श्यामकमलकिन्नतरुङ्गाय भक्तजन्मान् सुविलासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्ण अहम जनो शरण पश्यति ध्यान असर्यर्जितकर्मस्वरूपम् निरक्तपुत्रम् पितरम् जिजीश भद्रचला निवेदन करते हैं भगवान आपकी माया बड़ी विलक्षण और सूत्रम भगवत विचेष्टितम आपकी लीला आपकी माया बड़ी विलक्षण है ये काल भगवान सबका ग्रास कर रहे और क्रम से सब लोग काल के मुंह में जा रहे हैं ये हम सब लोग देख रहे हैं पर देखते हुए भी उसकी इच्छा करते तुच्छ तो विषयों का सेवन करने के लिए को भी स्मशान में जाकर के जला करके भस्म कराए और अपने पुत्र को भी निर्वृत्त पुत्रम पितरम और से जिनसे स्वयं पैदा हुआ था उन पिता को भी स्मशान में पहुंचा दिया जो अपने से पैदा हुआ था पुत्र उसको भी स्मशान में पहुंचा दिया और अपने जीने की इच्छा करता है तो ये क्या है ये भगवान की माया वदंत विश्वम कवयस मनस्वरम बड़े बड़े विवेकी महात्मा संत सभी कहते हैं संसार नाशवान है मिथ्या है झूठा है और कुछ लोग तो इसका अनुभव करते हैं तथापि योगी तरा माया वो लोग भी आपकी माया से मोहित हो जाए आपकी लीला आश्चर्यजनक है इस तरह से भद्रश्वरा भगवान से निवेदन करते हैं स्थिति करते हैं हर वर्ष में नृसिंह रूप से भगवान विराजमान रहते हैं शिवाजी भगवान की स्थिति करते हुए निवेदन करते हैं स्वस्थ्यस्तु विश्वस्य फल प्रसन्नता प्रहलाद जी कहते हैं भगवान eu भक्ति निष्काम भाव से आपके चरणों में लग जाए स्वस्थ विश्व फल प्रसन्नता यायंत भूतान शिवम मृतो दिया मनश्च भद्रम भजता आवेश्यता आवेश्यदान मदरत की हमारी आसक्ति घर गृहस्थ में न हो अगर हो तो भगवान के भक्तों में हो प्रहलाद जी कहते हैं कि जो यह प्राणवृत्या परिशिष्ट भोजन करने को मिल जाए शरीर ढकने को वस्त्र मिल जाए जो इतने से संतुष्ट रहता है उसको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है और जो इंद्रियों के अधीन व्यक्ति है इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है उसको सिद्धि नहीं मिलती महापुरुषों के संग से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वो तीर्थ के समान पवित्र होती है उसका बार बार श्रवण करने से मन पवित्र हो जाता है भरत के योग का श्रुतिविदतुम गतुम गजन भगवान हमारे अंतकरण में आकर के पापों को निवृत्त कर देते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के महिमा का श्रवण न करे जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है उसके हृदय में सारे गुण निवास करने लगते हैं और जो भगवान का वक्त नहीं है जो मन के रथ पर बैठ करके इधर उधर घूमता रहता है उसमें सदगुण कहां आ सकते हैं हरे साक्षात भगवान श्री बिना आत्मा दशाणानुगतो निश्चित महास्तम यदि सज्जते गृह तदा महत्व दंपती नाम प्रहलाद जी कहते हैं भगवान भगवान के बिना हमारे हमारा जीवन नहीं हो सकता जैसे मछली जल से पृथक होकर के जीवित नहीं रह सकती पर मछली तो जल से पृथक करके दो चार मिनट जीवित रह सकती है पर हम भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते ऐसे ही परमात्मा को छोड़कर के जो विषयों में प्राणी आसक्त होते हैं तो उनका बड़प्पन तो अवस्था को लेकर के तो कह सकते हैं गुणों के द्वारा वो बड़े नहीं कहा जा सकते करे जा सकते ये अस्सी वर्ष के हैं नब्बे वर्ष के हैं बस इस अवस्था को लेकर के उन्हें बड़ा बता दो पर गुणों की दृष्टि से बड़े नहीं माने जा सकते क्योंकि भगवान से विमुख इसलिए तस्मात रजोदात वृषाद नंदिनी मानस प्रभा भयदैन्यादिमूलम हित्वा ब्रह्म संस्कृत चक्रवालम नृसिंहपालम है इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं ये संपूर्ण उपद्रवों की जड़ जो हर ग्रहस्थ है उसको छोड़कर और नृसिंह भगवान के चरणों में पहुंच जाए ये प्रहलाद जी भगवान की उपास स्तुति करते हुए निवेदन करते हैं और ये <coughs> केतमाल खंड में लक्ष्मी जी भगवान की उपासना करती हुई कामदेव के रूप में कामदेव उनके नाचते हैं भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं लक्ष्मी जी उनकी स्तुति करती हैं और उपासना करती हैं और लक्ष्मी जी इस तरह स्तुति करते हुए निवेदन करती हैं स्त्रियों वृतस्ता हर्षिकेश्वरम तुम गाराद्यलोके प्रतिमा शासतीम् सासान्नते वैः परिपान्त्यपत्यम् प्रियम् अनायूम् तो स्वतंत्रा लक्ष्मी कहती है कि देखो ये स्त्रियां बड़े व्रत करती हैं और ये परमात्मा को छोड़ करके परमात्मा से दूसरे पति को मांगती हैं पतिमाकाशतेन्द्रियम जो जगतपति है वो तो जगतपति परमात्मा की आराधना करके व्रत करके उनसे दूसरा पति मांगते भगवान उनको दे देते पर वो जो पति हैं उनके उनके जो प्रिय वस्तु है पुत्र है वित्त है उसकी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि बेचारे वो स्वतंत्र नहीं स्वयं परतंत्र है क्या रक्षा करें पति तो वो होता है जो सब प्रकार से रक्षा कर सके समर्थ हो सवई पति सियाद अकुतो वय स्वयं पति किसको कहते हैं रक्षक को जिसको स्वयं किसी से भय न हो और की रक्षा करने में समर्थ हो वो वास्तविक पति है वो तो भगवान ही है समम तत्तापि भयातुरम जनम सही कई तरता मुथो वयम वो तो एक परमात्मा ही है जिनको स्वयं किसी का भय नहीं है <clears throat> और सबकी रक्षा कर सकते हैं भगवान शंकराचार्य जगह कहते हैं किसी ब्राह्मण के एक पुत्र था और मर गया भगवान शंकराचार्य के सामने रख दिया महाराज जीवित करो हम बड़े दुखी हैं भगवान शंकराचार्य ने ये श्लोक बोला कि भाई हम लोग किसी पर दया भी करें तो क्या कर सकते दयालु असमर्थ से दुखायुक्त दयालु कोई व्यक्ति दयालु तो है पर है असमर्थ तो उसकी दया उसके दुख के लिए ही तो दुखी होगा और क्या करेगा जैसे वो रो रहा है वो भी रोने लगे सर्वरक्षा समर्थ से तो ये भी शोभती तुम दया भी भगवान को ही शोभा देती है क्यों को सबकी रक्षा करने में समर्थ हम हमारे हृदय में दया भी है फिर हम क्या करेंगे क्या कर सकते तो इसी प्रकार से वो तो एक परमात्मा ही है वास्तविक जो पति है उनको किसी से रहने में अगर परमात्मा दो हो तो आपस में भी रहने नहीं करेंगे ना वो एक ही परमात्मा है आगे किम पुरुष किम पुरुषे खंडे भगवान राम रूप से रामचंद्र के रूप से वहां निवास करते हनुमान जी किम पुरुषों के साथ वहां उनकी उपासना करते नमो भगवते उत्तम है न आर्य लक्ष्मण है न उपशिक्षिता आत्मने उपसित है उपासित लोकाय न साधु नमः साधुवान नकशराय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इस मंत्र का जप करते और कहते हैं महाराज ये आपका जो मनुष्य के रूप में अवतार है ये तो हम लोगों को ये तो जनता को शिक्षा देने के लिए मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षण रक्षोबधालेवन केवल विभो के रावण का वध करने के लिए आपको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी तो वो तो आपके संकल्प मां से जो सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो रावण को मारने के लिए आप अवतार ग्रहण करेंगे ना लोगों को शिक्षा देने के लिए आपका अवतार होता है <coughs> ये बात कहते हैं शिक्षण रक्षो रक्षोबधायैव न केवलम् विभोः कुतो यथा सूरमतस्व आत्मनः न स्त्रीकृतम् तो अन्यथा जो स्वयं आत्माराम है वो सी दिखाने के लिए सीता के लिए रोते फिरे जहां कहां जहां तो ये क्या था केवल लोगों को शिक्षा ही तो दें स्त्री में आसक्त होने वाला जो व्यक्ति है उसको रोना पड़ता भारत भारत वर्ष भगवान भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप से निवास करते हैं तो वहां उनको नारद जी उनकी उपासना करते और इस तरह से नारद जी भगवान से निवेदन करते हैं नमो भगवते विषमशीला है उपरतनात्मिया है नमो किंचन वित्ता है ऋषि है नर नारायण है परम हंस गुरवे आत्मा रामाधिपत नमो नमन इस मंत्र का जो करते और भगवान से की स्तुति करते हुए निवेदन करते हैं तथास्त सर्गा ऋषियो न बचते नान्यते देहगतोपि दैहिक दृष्टुर्न द्रव्य से तस्म नमो सत्य विविध साक्षिणे नारद जी कहते हैं हे भगवान आप इतने विश्व की रचना करते हैं पर कहीं कर्तापने का अभिमान आपको नहीं होता जैसे इन शरीरों में जीव रहता है तैसे आप भी तो रहते हैं पर देह के धर्मों से लिपायमान नहीं होते आपकी दृष्टि कभी दृश्य से दूषित नहीं होती हम तो कोई वक्त घटना देखते हैं हमारी दृष्टि दूषित हो जाती है अरे राम राम ये इसने क्या किया और भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं तो दृश्य के दोष और गुणों से उनकी दृष्टि दूषित नहीं होती तस्मयी नमो विद असक्त विविध साक्ष्य उन परमात्मा को असंग जो सर्वथा असंग है उन साक्ष्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं यम योगेश्वर योग नैपुण हिरण्य गर्भो भगवान जगादयत यदंत काले निर्गुणे मनो भक्त्या रथितो चित दुष्कले वरा नारद जी कहते हैं हे योगेश्वर संपूर्ण योग का फल क्या है कोई अष्टांग योग करता है कोई ध्यान योग करता है कोई मंत्र योग में लगा हुआ है तो ये बताओ इन सब योगों का फल क्या है तो नारद जी कहते हैं सबका फल ये है कि जगन तकाले त्वय निर्गुणे मनोज अंत काल में आपके चरणों में मन लग जाए ये देहाभ्यास को छोड़ करके शरीर और संबंधियों में से मन हट करके आपके चरणों में लग जाए अंत के समय में यही सबका फल है सब का यथई स्मृत काम तथा सुतेषु दारेशु धनेशु चिंतन संकेत विद्वान वराक्षया यस्तस्य यत्न समय केवल जैसे कोई साधारण व्यक्ति मरने के समय क्या कहता है सुतेशु दारेशु धनेश चिंतन अरे हमारी लड़की को बुलाया जाने नहीं <clears throat> लड़के को बुलाता है लड़की को बुलाता है मित्र को बुलाता है धन की चिंता करने लगता है और मरने से जैसे डरता है ऐसे अगर कोई विद्वान भी विवेकी भी संत भी मरने के समय घर का चिंतन करने लगे तो अब तक के साधन का उसे क्या फल मिला उसका जो यत्न है साधन है व्यर्थ ही है अरे साधारण प्राणी के समान तू भी डरता है मरने से इधर उधर का चिंतन करता है मरने के समय यथई काम मृग कामलंक कहा सुते सुधारेश गणित चिंतन संकेत विद्वान उपले वरास्तयापयस्तस्ना समय तेजस महाराज जी कहते हैं इसलिए भगवान आप ऐसी कृपा करो कि आपकी माया जो है तन्ना प्रभु तुम कुकले काम इस शरीर में मैं और मेरा ये जो आपकी माया है इसको मैं दूर कर सकूं ऐसा आप हमको भक्ति योग प्रदान करें ये नारद जी स्तुति करते हैं इस स्वर्ग में देवता ये कहते हैं कि इन मनुष्यों ने क्या ऐसा कर्म किया है कि जो भारतवर्ष में मानव योनि इनको मिली है अहो अमीशाम किम कार्य शोभन प्रसन्न शाम सुगत स्वयं अरे ये क्या कर्म करेंगे ऐसा इन्होंने क्या पुण्य किया है अगर हमको पता चले तो हम भी वो पुण्य करें जिससे भारतवर्ष में हमको मानव योनि मिल जाए बोलो इनके पुण्यों का फल नहीं है ये तो भगवान ने ही प्रसन्न होकर के इनको मनुष्य ने दिया यही जन्म लब्धम शुभार मुकुंद सेवम पयतम स्प्रभायन भगवान की सेवा के योग मानव शरीर भारतवर्ष में इनको मिल गया इससे और बढ़िया क्या बात हो हमने बड़े बड़े तप करके यज्ञ करके व्रत करके और हमने स्वर्ग को प्राप्त किया स्वर्ग में आ गए हैं पर यहां क्या लाभ है यहां इतने इतनी विषयों की भरमार है कि हम भगवान का स्मरण ही नहीं कर सकते न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयन्द्रियोत्सवात इतने विषयों की भरमार है हम हमेशा इसी में फंसे रहते हैं भगवान का स्मरण नहीं होता था एक कल्प की भी आयु मिल जाए ब्रह्मलोक भी मिल जाए पर उसकी अपेक्षा क्या है क्षणायुषाम भारत भूजो थोड़ी आयु मिले भारतवर्ष में मनुष्य होनी मिल जाए क्षणी मरते न कृतम मनुष्य न संन्यास संन्यास संयास स्वयं फल जो व्यक्ति भगवान के चरणों में सर्वस्व अर्पण करके अभय पद को प्राप्त कर लेगा यहां यहां स्वर्ग में न भगवान की कथा सुनने को मिलती है न भगवान की कोई उत्सव देखने को मिलते हैं न का यहां कोई सत्संग मिलता है यहां क्या मनुष्य शरीर पाकर के लिए और फिर जो मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता वो पक्षी के समान बंधन से छूट करके भी और फिर बंधन में आता है इस तरह से देवता लोग स्वर्ग में बैठे हुए भारत में जो महान मनुष्य जिनको प्राप्त है उनकी प्रशंसा कर रहे थे और यहां जिनको मनुष्यवाणी मिल गई है वो उनको वैसे ही समझते हैं कि भाई कुछ नहीं हम्म। जो जिसको जो वस्तु मिल जाती है उसका मूल्य नहीं समझता हमको जो मनुष्यवाणी मानव योनी मिली है हम उसका मूल्य कहां समझते जो समझते हैं ऐसे ही मिल जाते है भगवान आप तो प्रसन्न हो और कहें बोलो तुम देवता हो गए या मनुष्य होना चाहते भगवान से कहना नहीं हम तो ही मनुष्य इन्होंने हमको देव हम देवता नहीं होना चाहते एक सेठ जी दान कर रहे थे एक चांदी की शिला थी एक लोहे की शिला थी पंडितों को बुलाया और पहले अपने पंडित से कहा ये पंडित जी हम दो शिलाएं दान करना चाहते हैं देखो एक चांदी की है एक लोहे की इनमें से दोनों में से ले लो एक शिला कौन सी लेना चाहते पंडित जी ने कहा कि